रागी का यह राग था या वैराग्य पुनीत अथवा रोगी के लिए अंतिम संगीत दीवट पर हिल रही थी जब दीपक की जोत सैया पर बह रहा था तब विचार का स्रोत सच है दुनिया मतलब की है सच है दुनिया मतलब की है इस मतलब वाली दुनिया में यही हालत हम सब की है यही हालत हम सब की है ऐसा अस्तित्व निरर्थक है दिख है ऐसे नर जीवन पर जब अपना ही अधिकार नहीं अपने तन पर अपने मन पर साहस हो तो इस बंधन से होकर स्वतंत्र बाहर आओ देना है अगर आत्म पद में तो माया से तर कर आओ दुनिया जब बीमारी दे दुर्बलता चिंता दे मन को लाचार यहाँ हो जाएगी तज देंगे हम इस जीवन को दासी तुम्हें अपना काम करो रानी तुम्हें अपना काम करो हे रामचंद्र चौदह वर्षों मन में ही विश्राम करो बादले सदा के नाए तुम चौमासे में छाते रहना सूरज तुम महलों के छत पर यो ही आते जाते जलता है तू तो जलता रह दशरथ केवल केवल दशरथ ही चलता है सुरपुर में परमारथ चलता दुनिया में स्वार्थ चलता है बस्ते के बाहर रथ चलता महलों में तनिक विश्राम व्याकुलता ने कंठ से फिर कहलाया राम कौशल्या ने उस समय की वह भूमि पवित्र ले आई वह कहीं से एक राम का चित्र वह चित्र हाथ में आते हैं बूढ़ा लिप गया चित्रवत हो चार घड़े को फिर भावुक जी गया भावर तो लेखनी नहीं लिख सकती है अब थे जो विचार रोगी मन में कुछ देर बाद फिर राम कहा फिर मुरछा से व्यापी तन में अब के जो आंखें खुले तो था सब सुन शान या तो कुछ उन्मा कुछ नहीं कुछ नहीं कहीं नहीं कोई का भी था उत्साह उन दिनों बढ़ा हुआ मृगिया के पीछे एक दिवस मग बिसर गया आखिर मेरा हो गया उस तरह फिर फिर तरफ फिर हिरन टूटा उस और शिविर मेरा इतने में कुछ दूर पर शब्द हुआ गंभीर सुना भ्रमण द्वारा कही बोल रहा मैंने समझा मिल गया खोया हुआ शिकार संभव है जा रहा हो वह सरयू के पार कौशल्य तुम्हें ज्ञान है यह मैं धनुर्वेद में शिक्षित हूँ ओ लक्ष्य बोध या शब्द वेद दोनों वेदों से परिचित हूँ इसलिए शब्द पर ली मैंने कर लिया लक्ष्य निश्चय अपना उसी लक्ष्य पर उसी समय सर छोड़ दिया निर्भय अपना पहुंचा तो बाण लक्ष्य पर ही पर लक्ष्य न उसका जीवन था घातक था जिस जीवन का वह वह जीवन अपना जीवन था आज जो याद आ रही है हो रहे रोंगटे खड़े प्रिय क्यों गया शिकार खेलने में क्यों मत पर पत्थर पड़े प्रिय ठहरो कुछ विश्राम लो अभी बहुत है बात नहीं सुनाना ही उचित है थोड़ी सी रात चरके लगते ही हुआ करुणा का संचार कर मैं ओर चला सोचा यह क्या भवितव्य हुआ मुझे हतभागी के हाथों से आहत इस समय मनुष्य हुआ जो जो मैं आगे बढ़ता था तो तो पुकार भी बढ़ते थे नभमंडल के निर्मल पट पर श्यामल घावली चली थी अब साफ समझ आता है कोई यदि दुख सह रहा है हा माता पिता पिता माता यह बारंबार कह रहा है पहुँचा तीर समान है मैं भी जल के तीर काप रहा था उस समय सरयू का भी नीर अब मैं घायल के था समीप कर आया मेरे आसन था मैं था शरीर था आंखें थी सब कुछ था होश हवासन था जो जो यह शब्द कहे मैंने हो कौन बताओ उत्तर दो ये निर्दोषी दोषी हूँ मैं कुछ दंड अभी निश्चित कर दो मैं अवधपुरी का दशरथ हूँ मेरा ही सरहत्यारा है पढ़कर मृगिया के धोखे में मैंने ही तुमको मारा है यह कब सखायल के समीप बैठा मैं भाव सींचने को जिन हाथों से छोड़ा था सर उनसे ही उसे खींचने को निकले सर के साथ है एक रुधिर के धार गूंज उठे फिर पूर्वत मन में कर हा माता हाय पिता जब खायल ने खोली आखे तब निश्चय जानो मेरा भी डबडबा उठी दोनों आखे सायक का बदला देने को सायक का बदला देने को आए इस तरह निकल आंखें निर्बल के निर्बल आखे मिले परस्पर इस तरह दो दर्द ले नयन दर्द मंद दर्द मंद ने तब कहे